और वो गहवारे में भी लोगों से बात करेगा और बड़ी उम्र में भी और रास्तबाज लोगों में से होगा